यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में उनके हरगिज कुछ काम ना आएंगे और यही लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं